ऐश्य का कर्तव्य धन देकर सब वर्ण को सुखी करना है शूद्र का कर्म सबकी सेवा करके सबसे आशीर्वाद लेना है अपने अपने धर्म में स्थित होकर मनुष्य परम गति को प्राप्त करता है शूद्र को कितने शूद्र परम गति को प्राप्त किए कितने पशु प्राप्त किए परम गति को तत्सुभरस्वधाम्ना अन्याश्वहस्पचरः श्रवणस्वराभिः प्राणान्नमो भगवते पुरुषायम् तस्मात् परम् किमपि न जाने नमो नवनश्यामो कामकान्तदेहिने कमलासाम् समुद्रामो वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय नमः श्रीपरमहंसाय ईशानस्मृति तन्मायासोदारयुक्तम् भक्त्यैकवेशम् गुरुदेवतात्मा भय जो होता है वो दूसरे से द्वितीया दूसरे का अभिनिवेश हो जाता है तो दूसरे से भय होता है अपने से तो किसी को भय होता नहीं कोई कहते हैं कि माता दूसरी होती है तो मां से कहां है दूसरे से भय होता है ये बात कहां बात तक ठीक है ये श्रुति कहती है द्वितीया कई भयम भवन दूसरे से भय होता है और तो दूसरी तो माता की तो दूसरी है ही अपने से और माफी गोद में तो जाकर और निर्जय हो जाता है हमारा तो इसका अर्थ ये समझो दूसरे से ही होता है दूसरे से होता ही है ये बात में अपने अनुकूल है अपना मित्र है तो उससे कहां भय होता है पर होता है भय तो दूसरे से ही होता है और इस तरह से माता से भी होता है अरे ये मर जाएगी हमको याद आ रही ये उसको रोग हो जाएगा सेवा करनी पड़ेगी तो दूसरा जो है अपना प्रिय उसका भी एक तो भय रहता ही है एक दिन ये नहीं लगा ये मर जाएगी तो हम कैसे तो श्रुति जो कहती है बड़ी समझ बूझ के कहती है दुखिया दल है दूसरे से भय होता ही है अगर दूसरा तुम्हारा प्रिय है तो उसके वियोग का भय तो होगा पर ये एक दिन हमसे अलग हो जाएगा ये भी वह है ईशा अपेत से जो भगवान से विमुख है उसको देहात मुक्ति होती है अपनी आत्मा का विस्मरण हो जाता है ये सब भगवान की माया से मोहित होने के कारण से तो जिसकी माया से मोहित हो रहा है जीव उसकी शरण में जाना चाहिए भक्त्यैकैशम् गुरुदेवतात्मा गुरु को ही अपना देवता गुरुदेव देवता ईश्वर आत्मा इन सबको समझ देवता के समान गुरु की पूजा करो आत्मा के समान उससे प्रेम करो तो भगवान की माया से मोहित हो रहा है तो भगवान की शरण में जाना चाहिए सोलर इंद्र जावनी भूला जाकर हो सो नट अनुकूला भगवान चाहे तो भगवान अपनी माया से आपको पार कर सकते हैं भगवान ने गीता में माया के करने का उपाय बताया माने भी प्रपद्यंते माया मेतान परंत जो मेरी शरण में आता है माया उसको बाधक नहीं बनती अविद्यमानोप्यवभातिद्वयोध्यातुरुचिया स्वप्न मनोरथव्यता ये द्वैत प्रपंच नहीं है और दिख रहा है अविद्यमानों की अवभाती कि जो चीज नहीं है वो दिखाई कैसे देगी तो कहते हैं स्वप्न में नहीं देखा तुमने स्वप्न में क्या चीज होती है और खूब देखते हो स्वप्न मनोरथ हो था जब मनोरथ करने लगता है और स्वप्न का जो संसार है मन का कलंक जो संसार है वो सच्चाई मालूम होती स्वप्न में कोई वस्तु नहीं होती सब कुछ तुम्हें दिखाई देती है उसी प्रकार ये प्रपंच न होता हुआ भी दिखाई दे रहा है अविद्यमानो व्यवहाति जातो जिया स्वप्न मनोगत यथा तत्कर्म संकल्प विकल्पकम मनो बुधो निर्मुजातवयम इसलिए इस संकल्प विकल्प करने वाला जो मन है उसको रोक लिया जाए तो ये प्राणी अभय हो जाए ये मन ही है ये जो खुरखुराता रहता है जब मन अपनी क्रिया छोड़ देता है फिर कहां गया मनुआ मर गया खेल बिगड़ गया मन मार लो तो संसार कहां ये संकल्प विकल्प करने वाला जो मन है उसको इसका निरोध करना चाहिए मन का जहां निरोध किया प्राणी अवैध हो कल्पकल्पकम् मनो वो निर्मिजा भगवान के कथाओं का श्रवण करता हुआ उनके नामों को लेता हुआ सरित्समुद्राश्च हरे शरीर यत्किञ्च प्रणमे प्रणवेदनन्दना और ये सब भगवान का शरीर ही समझ अग्नि वायु आकाश ज्योति प्राणी ये वृक्ष नदी समुद्र ये क्या है हरे शरीर भगवान का शरीर है विराट भगवान का है जिनको सब लोग प्रणाम करते भक्ति ही परेशान भवो विरक्ति अन्यत्र चैषत्र कहे कथा भगवान का भजन करने लगेंगे तो आपके हृदय में भगवान का प्रेम का उदय होगा संसार से बैराग्य होगा परमात्मा के स्वरूप का ग्रहण होगा ये तीन बातें साथ साथ चलेंगी प्रपद्यमान से यथाशनत तुष्टि पुष्टि और पायन भाषण जब भोजन व्यक्ति करने लगता है कितना ही भूखा हो एक एक ग्रास ही तो खाएगा तो एक ग्रास पहले खाया तो कुछ तृप्ति हुई जीवन जीवन शक्ति का संचार हुआ और फिर धीरे धीरे करके फिर एक साथ पेट भर गया शुद्ध पाया शुद्धा निवृत्ति हो एक एक ग्रास खाओगे एक साथ भूख थोड़ी निवृत्त होती है एक एक ग्रास खा के थोड़ा थोड़ा पेट भरता रहता है तृप्ति भी होती आती है जीवन शक्ति का संचार होता जाता है भूख की निवृत्ति होती जाती है जब पूर्ण रूप से भोजन कर लिया जाता है खूब पेट भर गया तृप्ति हो गई क्षुधा की निवृत्ति हो ऐसे तुम साधन करने लगोगे भोजन करने लगोगे थोड़ा थोड़ा वैराग्य होता चला जाए और एक दिन पूर्ण रूप से आपके हृदय में भगवान की भक्ति आ जाएगी भगवान के स्वरूप का ज्ञान हो जाएगा संसार से पूर्ण रूप से वैराग्य हो जाएगा ये तीनों साथ साथ चलते हैं भगवान की भक्ति भगवान के स्वरूप का अनुभव नित्यच्युताङ्गम् भजतो भक्त्या भक्तिर्विरक्ति भगवत्प्रबोधा भवन्ति वै भागवतस्तुराजस्ततः पराष्टाम् पराम् शांति उपलब्धि साक्षात फिर उसको साक्षात परम शांति की अनुभूति होगी भगवान की भक्ति संसार से रहेगा भगवान के स्वरूप का ज्ञान जब पूर्ण रूप से उसको हो गया तो पराम शांति उपलब्धि फिर परम शांति का अनुभव होता है फिर जिमीदार ने प्रश्न किया कि तो भगवान भगवान के भक्त का लक्षण तो बताओ भगवान के भक्त का लक्षण क्या है कैसा होता है भगवान का भक्त तब दूसरे योगेश्वर बोले हरि नाम को सर्वभूतेश पश्चिम भगवत भाव महात्मा संपूर्ण प्राणियों में जो भगवान को देखता है भूतान भगवत्यात्मन और संपूर्ण प्राणियों को भगवान में देखता है वो इस भागवतोत्तम जो भगवान के भक्तों में उत्तम भक्त है ईश्वरे तदजीवेषु बालशेषु विशत्सुषो प्रेमैत्री कपोपेक्षाय करोत समर्थना भगवान का दूसरी श्रेणी का भक्त कौन सा है हाँ, ये जो भगवान से तो प्रेम करे भगवान के भक्तों से मैत्री करे शत्रुओं की उपेक्षा कर दो चाह भगवान से प्रेम भगवान के भक्तों से मैत्री और मूर्खों के ऊपर कृपा और शत्रुओं की उपेक्षा जो इस तरह से अपना जीवन व्यतीत करता है वो भगवान का दूसरी श्रेणी का भक्त है दूसरी श्रेणी का भेजा है भोजन करते हैं भगवान की भक्तों से मैत्री करते हैं और जो बेचारे ना समझे उन पर जो है कृपा करते हैं जो हमसे द्वेष मानता है हम उससे द्वेष नहीं मानते उसकी उपेक्षा कर देते कितनी बढ़िया रहनी सहनी है दूसरे नंबर का प्रथम श्रेणी का प्रभाव तो अर्चायामेव हरे पूजायाश्रद्धे और केवल मंदिर में भगवान की मूर्ति में श्रद्धा रखता है कि ये भगवान है भगवान के भक्तों में और जगह उसका भाव नहीं होता तो कहते हैं अभी सीख कर गलत है तीस श्रेणी में आ जाएगा फिर तो प्रथम श्रेणी में आ जाएगा ग्रीन टॉप इंद्रियस्थान योग दृष्टि में निश्चित इंद्रियों के द्वारा संसार का अनुभव करता हुआ कि न किसी से द्वेष करता है न किसी से प्रेम करता है क्यों नहीं करता वो समझता है कि भगवान की माया है जो कुछ दिखाई दे रही इससे क्या द्वेष करना क्या प्रेम करना तो कहते हैं गुरु भगवान का उत्तम भक्त है गृहिता कुंजे स्थान एक तो ज्यादा संसार को देखता सुनता ही नहीं है अपने ध्यान भजन में रहता है दुनिया के बातें नहीं सुनता संसार की चर्चा ज्यादा नहीं सुनता तो भगवान संसार उसके मन में आया था गृहित्वा पिंद्र स्थान योग दृष्टि निश्चित एक बार श्री दत्तात्रेय महाराज सेवा गए थे समुद्र काशी गए वहां एक महात्मा आए उन्होंने कान में अपनी ठेप लगाई हुई थी उनके नहीं बंद कर रखे थे आंखें उन्होंने खोली हुई थी यहां से आंखों से दिखाई हुई थी और आकर के बोले थे महाराज जो इस संसार में से दृश्य कैसे निकले हमने कहा बाबा ये दो मार्ग हैं संसार के आने के कान लेते नेत्रों से तुम देखते हैं कानों से सुनते हैं फिर संसार कहां से आ गया तुम्हारे मन में क्या अब तो हमने रास्ता बंद कर दिया है पर पहले जितना आ गया है वही नहीं निकल जो पहले देखा सुना है उसी के विषय में संकल्प विकल्प होते हैं और गृहित्वा इंद्रिय रक्षा संसार के संसार ये प्रपंच रूप संसार को देखता हुआ भी और ये समझता है तो भगवान की माया है न उसमें राग करता है न उससे द्वेष करता है तो तो ऐसा मन बना लो कितना कठिन है संसार की कोई वस्तु देखो न उसमें प्रेम करो न उससे द्वेष करो तो तुम भगवान की उत्तम कोटि के भक्तों ने नाम लिख जाएगा तुम्हारा विष्णोर्मायामिदम् पश्यन् स वै भागवतोत्तमः देहेन्द्रियप्राणमनोधियां यो धर्म संसारधर्मैरधिगुह्यमाना स्मृत्या प्रधान शरीर इंद्री प्राण मन बुद्धि के जो धर्म हैं वो उनमें भी समझो आत्मा में मत आने दो या अरे शरीर का जन्म होता है आत्मा का तो होता नहीं अच्छा ये तृष्णा इंद्रियों में है आत्मा की तो है नहीं प्यास प्राणों के घर में आत्मा के तो नहीं है ये शोक मोह ये मन के घर में आत्मा के तो नहीं है इस तरह से जो जिसके धर्म है उसमें ही समझ लेना आत्मा में ना आने देना संसार के धर्मों से मोहित न होना वो भी भगवान का उत्तम भक्त है इसमें क्या कठिन है लिखाओ उत्तम भक्तों में ना समझ लो देहेन्द्रियप्राणानुभूतियाम् योगजन्माप्यक्षुद्वयतर्षकृच्छ्रैः संसारधर्मैरभिगुह्यमानः स्मृत्यारेखावर्तमा प्रधान न कामकर्मबीजानाम् यस्य चेतस संभव कभी सकाम कर्म का उसके हृदय नहीं होता मन वासना ही नहीं होती मन में या केवलम वासुदेवाश्रय केवल भगवान का आश्रय ले रखा है तो भी भागवत उत्तम वो भी भगवान का उत्तम भक्त है नये से ज्ञान करना ज्ञान न करना समझा सभी सज्जते इसमें न हंकार देवे भी सहारे किया मेरा कंकुल में जन्म है मैं ब्राह्मण हूं क्षत्रिय हूं शरीर में जो अहम भाव नहीं करता है वो भगवान का प्रिय होता है ये मेरा है ये पराया है ऐसे जो भेदभाव करता त्रिभुवन भवन त्रिभुवन विभवे तने व्यकुंठ स्मृति जिसको त्रैलोक राज्यर्थम निमेशार्णपी भगवत पदार्थ भजनार्जना चलती वो प्रधानमंत्री बनाते हैं जब वो सोचता है कि हम प्रधानमंत्री बन जाएंगे तो भगवान को वजन तो छूट जाएगा भगवान का ज्ञान ध्यान छूट जाएगा तो भगवान का ज्ञान भोजन छोड़ने को तैयार नहीं है महाराज एक क्षण भर के लिए भी भगवान का भजन छोड़ने को तैयार नहीं है चाहे तुम त्रिलोकी का राज दे दो अरे इनमें क्या रखा है जिसकी ऐसी बुद्धि है त्रिभुवन विभव तभी भी अरे तू एक देश का राजा या मंत्री बना रहा है हम कहते हैं हम त्रिलोकी का तू राज दे तो भी भगवान का एक क्षण के लिए हम वजन नहीं छोड़ सकते भगवानों के लिए भगवान को भजन छोड़ अरे तो ये तो फिर करनी है चलो तो चाहे कर लो माला लगे भजन में क्या रखा है मुझे काम करो तो साधारण से लौकिक काम के लिए भगवान का ध्यान भजन नहीं छोड़ता है उसको समझो क्या है लिए त्रिलोकी को त्याग देता है उसके दृष्टि में समझो भगवान के भजन का क्या मूल्य है ऐसे ऐसे ऐसे संत महात्मा है निरंतर ब्रज में चले जाओ गोवर्धन की प्रगति में और निरंतर भगवान नाम जप कर रहे हैं एक दिन भिक्षा ले आए दो दिन तक खाते रहे